विंशति मुख स्थूल भुग स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथम पाद जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान जागृत अवस्था रूपी प्रथम पाद है उस आत्मा उस ब्रह्म उस ओम का अभिव्यक्ति का प्रमुख स्थान जहाँ पर आप स्थूल सृष्टि अनुभव कर सकते हैं बाह्य कर्ण और गड़बड़ादि बाह्य विशेष अपेक्षा पर अनुभव कर सकते हो सर्वम ब्रह्म को वह जागृत स्थान को प्रथम पाठ है वह क्यों ऐसा है वह उसको जागृत नाम क्यों पड़ा कारण यह है वहाँ पर वह बहिष्प्रज्ञ है मैंने बाह्य विषयों का प्रकाशन करने वाला होने से बहि यद विद्यते सर्वम तत्व प्रकाश्यते प्रज्ञाती बहिष्प्रज्ञा है और कैसे है सप्तांग सात अंगों वाला है सात प्रमुख अंग है इसका बताएंगे सब विराट में भी घटाएंगे चांद उपनिषद को लेकर और यहाँ भी घटा लो दोनों ही जगह घटेगा मूर्धा चक्षु प्राण वायु बस्ती पृथ्वी मन पाद इत्यादि गिनाएंगे यहाँ पर एकोन विंशति मुख और कैसा है एको विंशति मुख इक्कीस मैंने एको विंशति उन्नीस है द्वार इसके पास जिसके द्वारा ये बहिर्मुख हुआ करता है कौन कौन है बुद्धि इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच दस हो गया हो गया कि नहीं पंच प्राण प्राण पंच हो गए तो क्या हो गया पंद्रह और चार मन बुद्धि अंकार चित्र उन्नीसों में और इन द्वारों के द्वारा और सप्त अंगों को साधन बना करके बाह्य विषयों को ज्ञान करने वाला ये जागृत स्थान में विद्यमान रहने वाला आत्मा का नाम स्थूल भुग स्थूल विषयों को भोग करने वाला होने से उसका नाम स्थूल भुग है वैश्वानर दूसरा नाम वैश्वानरी है विश्व एवं नर वैश्वान विश्व चाहता हो नरश्चेती विश्वा एक पक्ष है विश्वेशम नराणाम अनेक नयनाद वैश्वान केवल एक दूसरा नाम पड़ा उसका यही उस आत्मा का जो ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म उस आत्म और का दृष्टि समष्टि में प्रथम पाद है समझो जागृत स्थानम अस्यो जागृत स्थान भी समाज करना पड़ेगा जागृत है स्थान जिसका उसको कहते जागृत स्थान आत्मा बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यश सब स्वात्म से भिन्न गड़बड़ाए विषयों में प्रज्ञा है जिसका प्रकाश स्वभाव है जिसका उसको कहते हैं बहिष्प्रज्ञ बहिर्विषय प्रज्ञा अविद्या करता होगा बहिर्विषय यही वह होना चाहिए ये वो है ना क्या अविद्याकृता ये बहिर्विषय एवं नहीं होनी चाहिए हाँ गड़बड़ हो जाएगा कि आत्मा कभी बहिरूपा नहीं होता अविद्या के वजह से बहिर्विषय वाला जैसे लग रहा है वास्तव में इसलिए बहिर्विषय इव प्रज्ञा कैसा हो गया वो भी अविद्या होकर भाषित हो रहा है वास्तव में प्रज्ञा तो विशुद्ध है वह न बहिर्विषय है न अंतर विषय है न अविषय है बल्कि निर्विषय है ये निर्गुण निराकार है वो इसलिए कहते हैं बहिर्विषय के समान हमें प्रज्ञानुभूति आती है कारण अविद्या पर बहिर्विषय हो जाने से तथा सप्तांगानी अस्य सप्त अंगानी अस्य सप्तांग कौन है वो सप्तांग श्रुति ही दिखा दिया तस्य हवायन वैश्वानर से मूर्धो सुतेज चक्षुर विश्व रूप प्रदग्वर्तनात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरव रही पृथ्वी पादी अग्निहोत्र कल्पना शेष आहुनियो अग्निरस्य मुख्य उक्त सप्तंगा सप्तांग तस्य हवा तो एक उस इस जो वैश्वान रूपी आत्मा उसे क्या है ये जो द्यूलोक है ना ये द्यूलोक ही सिर है मूर्धव सुतेज सुतेज बने द्यूलोक सुतेज द्यूलोक का नाम है ये जो द्यूलोक है समष्टि में वही इस आत्मा का सप्तांग में से एक अंग कौन प्रधान अंग जो सिर दृष्टि में भी ऐसे सिर में द्यूलोक का दृष्टि उपासना है निर्देव सुदेश चक्षुर विश्व रूप विश्व रूप प्रकाशित विश्व रूप सूर्य ये चक्षु क्या है सूर्य है और सूर्य क्या है समष्टि का चक्षु है और दृष्टि में इस चक्षु में आप सूर्य की दृष्टि करेंगे दो हुआ प्राण प्रतिगत्मात्मा प्राण क्या है वायु है ये जो बाहर छता महावायु है यही वो समष्टि का प्राण है और इसके अंदर जो प्राण चल रहा है इसमें वायु की दृष्टि करो वृष्टि में प्राण हो गई वृष्टि समष्टि दोनों तरफ लेते जाना इस पर सात अंग बनाया है ना तो ये तीसरा हो गया चौथा संदेह बहुलो बहुला मने आकाश ये क्या है संदेहो मने धड़ भाग ये जो धड़ है यहाँ से यहाँ का नाम धड़ है ना धड़ के भाग ये धड़ भाग क्या है ये आकाश ही धड़ है समझो जिसमें वायु चल रहा ये धड़ में तो चलते ना हवा से अंदर घुसा तो धड़ के अंदर ही तो पंपिंग हो रहा है जरा पेट में तक जाएगा हवा का कहा जाएगा भाई जोर जोर नीचे से निकल जाता है छिड़ बने हुए उसको निकलने के रास्ते इधर धड़ में ही घूमता है इधर धड़ में ही आकाश है इसे बाई वायु आकाश में घूम रहा है इसे धड़ को ही आकाश दृष्टि करो बस्ती रेवर रही ही बस्ती में मूत्र स्थान वो क्या है रही मैंने अन्नम अन्य सप्रक्षित यहाँ अंग कारण जलम इत्यर्थ मूत्र में स्थूल तो है ना बस्ती से मूत्र स्थान हो गया और मूत्र से स्थूल तत्व कहा है इसलिए रही से लक्षित अंग होना है अन्न का कारण ही होता जल को ले रहा तो जल आ गया तो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच हो गया पृथ्वी एवं पादौ हो गए नहीं ये पादौ पृथ्वी पादौ अथवा पृथ्वी पाद एक ले लो फिर आवनिया जैन साहब को चलाने वाला कौन है सातवा कौन है वो अग्निहोत्र कल्पना शेष रूपेण जो कहा गया किसको आवनी अग्नि वही अश्य मुख्य वही इसका मुख्य होने से मुख कहा गया वो सातवा है मुख्यत्व मुखम तीनों मुखम बनेगा इतम सप्त अंगानी यश इस प्रकार से सात अंग है जिसके उसको हम कहेंगे स सप्तांग हो तो वृष्टि में कौन कौन हो गया सिर हुआ यानी अंक दो प्राण तीन धड़ चार मूत स्थान पांच पृथ्वी बने पैर छ और हृदय और समष्टि में जो लोग सूर्य वायु आकाश और जल एवं पृथ्वी और समष्टि के अंदर बाह्य आहवनी अग्नि है बाहर में आवनी के जिसके आधार पर समस्त लोग खड़े हुए हैं यदि आहवनी अग्नि न हो हवन न हो अग्नौताहुति आदित्य उपविष्ट मनुस्मृति का कहा ना अग्नि में प्रस्तुत जो आहुति है वो कहा जाता है आदित्य में आदित्य में जाने के बाद ऋग्वेद संबंधी जो ऋचान से कथित आहुति पूर्व भाग दक्षिण भाग पश्चिम भाग उत्तर भागों में चारों भाग में चारों वेदों के संबंधी कर्म संबंधी आहुतियाँ चारों विभाग विभक्त होकर के उनकी रश्मियों के माध्यम से समस्त संसार में ही वेद की जो है वेद के आहुतियों के माध्यम से सुरक्षित हो जाता है इसलिए कहा गया यहाँ हवन अग्नि बाह्य अग्नि लो जिसके समस्त सारा संसार टिका है और यहाँ हृदय को लेना जिसका पूरा का पूरा शरीर टिका हुआ है तो सात बाहर समष्टि में सात अंदर दृष्टि में यही सप्ताह इस पर विचार जो है और इस पर टिप्पण थोड़ा दे दिया ना एक नंबर टिप्पण सत्रह पृष्ठ में अग्निहोत्र कल्पना शेषक का मतलब क्या अग्निहोत्र निरंतर रक्षणीय अग्निहोत्रियों के द्वारा आमरण काल पर्यंत पुत्र को प्रदान करने तक पुत्र को दे सकता है बढ़ाता आ गया तो पुत्र को सौंप देगा पुत्र उसमें संभालते रहेगा से मुक्त हो सकता है अग्नि का उद्वास कर सकता है लेकिन तावत पर्यंत तीन अग्निया उसके द्वारा रक्षा हमेशा करनी चाहिए गार्य पत्यो अनुहार दक्षिण दक्षिणाग्नि दक्षिणी अग्निर निरंतर रक्षण अग्नि कौन है गारपत्य बाकी तो कुछ जाए कोई आपत्ति नहीं गारिपत्य अग्नि निरंतर रक्षण क्योंकि उसके अगर हम दक्षिणाग्नि बना सकते हैं अवनी भी हो जाता है अनिवार्य वचन क्या है उसका अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि उसका नाम अनिवार्य वचन क्यों हुआ कहते अनवाहार्यम ओदन विशेष भात विशेष का नाम अनवाहार्य पक्ष अस्मिन वो पकाया जाता है जिस अग्नि उसका नाम दक्षिणाग्नि के अलावा आयुपचन अग्नि वह भारत को आहुति के दिया है हविष्य हविषान्न की जो पकाने का अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि और तीसरा सच दक्षिण कुंडे तिष्ठती होम काले होमार्थम गारपत्य उद्धृत्य हवन कुंड प्रज्वाल्य आह्वन यदि विवेक और गारेपत्य से होम काल में होम करने के लिए ही गाय पत्ते से उत्ता उत तो उठा करके थोड़ा अग्नि को लेकर के जो मुख्य अग्नि कुंड में जो डालते हैं उस अग्नि का नाम आहवनी अग्नि होगी उसकी कल्पना एक हो गया बार समि दृष्टिकोण से दृष्टि में कहा जाएगा उरेव वेदिर लोमानी बर्र हृदय पत्यो मनो अन्वाहारी पचन आत्मा है श्रुति शेष उरेव वेदी छाती है आपका यही वेदी है यहाँ जो लोम है यही बर्री है इसे जो हृदय है वो गार्यपत्य है मन अनवार्य वचन है और आत्मा जो हृदय आवचल हृदय सुरक्षित वही है आत्मा आत्मा आवन आत्मा हो गया पाठ गलत हो गया आत्मा आवनी श्रुतिशेष दृष्टि में आ गया हृदय पिंड स्थान विशेष गुफा विशेष वो हो गया गार्यपत्य वहीं से आप आत्मा को ग्रहण करोगे इसे कार्यपति से निर्माण हो ना इसलिए कार्यपत्य होगी हृदय और तदवच्छिन्न चैतन्य हो गया आपका आत्मा या हवनीय और इनमें बीच में इंद्र ले लिए हविष को तैयार कौन कर रहा है विषय भोग को कौन ला दे रहा है मन इसे मन को कह दिया दक्षिणा तथकोण विंशतिर मुखानी अस ठीक इसी प्रकार से जैसे अपने पूर्व में विग्रह की क्या था सप्त अंगानी एक एकोन विंशतिर मुखानी अस्य कौन है वो उन्नीस मुख है जिनका इस आत्मा का जागृत व्यवहार करने के लिए उन्नीस मुख द्वार के समान द्वार है जो वे कौन कौन है कदे बुद्धि इंद्रिया कर्मेंद्रिया च दशा ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच ये दस वाय और अनेक वायु है कितने वो भी प्राणाद पंच प्राणादि जो पांच कुल पंद्रह हो गया मनो बुद्धि अहंगार चित्त मिधि ये चार हो गए कुल उन्नीस ये जो चार क्या है कुल उन्नीस क्या है मुखानी ये वो मुखानी मुख के समान मुख है अर्थात तानी उपलब्ध द्वारा नहीं क्योंकि ये जो उन्नीस मुख्य समान मुख इसलिए कहा जा रहा है ये उपलब्धि के द्वारा न शब्द रूप रसगंध स्पर्श गाना दान सर्जन इत्यादि होंगे उपलब्धि अनुभूति या ज्ञान का कारण आप ये सोचते मैं जा रहा हूं पैर का गमन वो ज्ञानी तो हुई जो कर्मेंद्रियों का भी जो विषय है वो भी ज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है वृत्ति विशेष हो गया आपके मन में कि मैं जा रहा हूँ मैं पकड़ रहा हूँ आदान यानी मैं बोल रहा हूँ वजनम और विसर्जन है दो प्रकार का पाई और उपस्थित इनके भी जितने भी विषय हैं वास्तव में वो भी हमारे उपलब्धि स्वरूप ही है एक वृत्ति ज्ञान विशेष ही है और कई बार होता है वृत्ति कार्य इंद्रियों से निष्पन्न हो रहे हैं आपका उसके साथ साक्षात स्थूल रूपेण वृत्ति संबंध नहीं रहता है संबंध है उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते जैसे आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो दो है ऐसे बातें कर रहे हैं ज्यादा जो आपका वृत्ति का एकाग्रता किसमें है बातों में तब क्या हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वृत्ति प्रमुखतया देखने में गौण लग रहा है क्यों बातें कर रहे हैं आप वो प्रमुख लग रहा है लेकिन वास्तव में एकाग्रता ज्यादा साइकिल चलाने में जिन्हें आपस में टकराते नहीं है और उसको पूरा ज्यादा ध्यान में रहते हुए गौन व्यवहार हो रहा है वाक व्यवहार वगैरह देखना और अन्य व्यवहार हो रहा है कोई इंद्रिया क्रमशः आप रहते हुए भी मन इतना तीक्षण है झटित सबसे संबंध इतना तेजी से करते रहता है कि आपको लगता है कि ये प्रधान वो गौन है लेकिन सब समान ही इसलिए कहते हैं उपलब्धि के द्वार उपलब्धि मैंने ज्ञानानुभूति वृत्ति ज्ञान के द्वारे इसलिए हमको मुख्य शब्द से कहा गया एवं विशिष्ट वैश्वानर वैताश गुण विशिष्ट होकर के सप्तांग बहिष्प्रज्ञ एक विंशति तीन शब्द अभी तक हुआ है जागृत स्थान जिसका ऐसा वो विशेष है वेदार्श विशेषांश विशिष्ट वह यह जो आत्मा है वो कौन है वो वैश्वान नाम से कहा जाता है यथोक्तर द्वारा ही शब्दादि स्थूलान विषयान भूमि स्थूल भोग उसका दूसरा नाम क्या है यथोक्त द्वारों के द्वारा शब्दादि स्थूल विषयों को उपभोग करने वाला होने से उसका नाम स्थूल भुक्त है विश्वानर नाम क्यों पड़ा तो उसका वित्पत्ति करके बता रहे हैं विश्वेशम नराणाम एक पक्ष है ष्टी समाज कर रहे विश्वेशम नाराणाम अनेक नयनाद वैश्वान समस्त जीवों को अनेक प्रकार की योनियों में ले जाने वाला है संपूर्ण जीवों को नरों को अनेक प्रकार की योनियों में ले जाने वाला होने से इसका नाम वैश्वान एकादश उन्नीस तत्व से परिच्छिन्न या सप्त अंगों से परिच्छिन्न या बाह्य विषय ज्ञान वाला जहर स्थानाभिमान जो होता है स्थूल विषयों को भोग करता है यही वास्तव में क्या है हमें अन्य योनियों में भी ले जाने वाला है अतः इसका नाम वैश्वान विश्व चक्ति नराचित नर शब्द वाचा स्थूल देहा तेषा मयम अधिष्ठाता टिप्पणकार कहते हैं विश्व चक्ते च नरा विश्व है और नर मैंने अनेक नर है विश्व मैंने सर्वपर्यायवाची विश्वेशम को सृष्टि लेते हैं तो भी और आप कर्मधारे करो तब भी नरशोधवाची क्या लेना स्थूल देहा और उनमें जो रहने वाला उनका अधिष्ठाता तेषाम अयम अधिष्ठाता उनका यह आत्मा अधिष्ठाता है अत्र पक्ष चमिति अनंद वैश्वानर शब्द वाच्य इस अश्विन पक्ष में इस पक्ष में क्या है तस्म क्योंकि ऊपर विश्वेशम है उस में तस्य कहना पड़ेगा और अत्र पक्ष मैंने विश्वचते नरा कि विश्व नरा ही तो बनेगा न कैसे बन गया विश्वेशम नारायण ऐसे करो तो भी क्या होगा विश्व नरा ही बनेगा ये नहीं और यदि कहोगे चत्य नाराची थी तब भी विश्वान शब्द बनना फिर तो वैश्वान कैसे हो गया तो यदि अंडन वैश्वान शब्द बोध दिया स्मारती का कर दो वैश्वानर हो गया फिर भी नर होनी चाहिए वैश्वा का कहते हैं पूर्व पद से धैर्यम नरे संजायामी सूत्रेणा उससे दीर्घ हो गया यद्वा भाष्यकार कहते यद्वा विश्वच्चो नरश्चि विश्वानरो विश्वानर एव वैश्वानर ऐसे करते यहाँ भी टिप्पण करें यद्वा इत्यादि विश्वामृति यावत विश्वस्त नरश्चेति विश्वामृति यान पाठ लिखित पुस्तक है ये विश्वस्चाथ नरच लिखित ग्रंथों में मिलता नहीं है बाद के लोगों ने इसको घुसाया हुआ है यदवा विश्वानरो विश्वानर वो वैश्वान इतना ही पाठ है विश्वानर वो वैश्वान ऐसा है ठीक टीका के पर्यालोचना करने पर भी लगता है कि ये जो पाठ है ना प्रामाणिक है घुसा दिया गया पीछे कि टीका में लिखा है देखिए अथवा विश्व नरचित विश्वान सैव वैश्वानर ये टीका में आया हुआ है उसको लोगों ने बाद में मूल में घुसा दिया द्वाका कि टीकाकार व्यवस्था दी है अथवा पक्ष और उसको लोगों ने मूल में ही प्रवेश करा दिया कई बार ऐसा होता है टीका को मूल में लोग कर दिए जैसे महाभारत है पच्चीस हजार श्लोक है स्वयं याजी का एक श्लोक है उसे लिखा है पंचविंशति सहस्रिया कहा जाता है इसलिए पंचविंशति सहस्र मैंने कितना हुआ पच्चीस हजार और आज जो उपलब्ध ग्रंथ है कितना है इसमें एक लाख से ऊपर श्लोक वो जो पचहत्तर हजार गुस्सा है लगता है किसी ने पच्चीस हजार वो महाभारत को पढ़ते जो जो उसके दिमाग स्मृति जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हो क्या करते हैं गीता का लाते हैं मनुस्मृति का बोल देते हैं अब उसे टीकाकार में ऐसे जितना उस स्मृति में आई तो समय श्लोकों को नीचे टीका कर लिखते गया होगा कि इसमें ये इस संबंध में ये श्लोक है लग सकती है संबंधित है अच्छा है समझने में सरल हो जाएगा अब बाहर के लोगों ने मूल में घुसा दिया और मूल ही प्रवृत्त कर दिया एक लाख जिसे तो यहाँ हुआ है कि पणकार स्पष्ट करते हैं ये तो लगता है कि टीकाकार का अपना आशय था और लिखित मूल ग्रंथों में मिलता भी नहीं है आज मानना पड़ेगा प्रश्लेष हो गया सब प्रथम उत्पाद सर्वपिंड आत्मा ये सकल पिंडों का ही आत्मा है ये समष्टि आत्मा है कहने का मतलब क्यों सभी पिंडों के साथ वो अनन्य है अनन्यता सप्रथम पाद है यही उस आत्मा का प्रथम पाद है छह नंबर टिप्पण थोड़ा देखने लायक है कि तीनों व्यक्तियों को बता रहे हैं इसीलिए सर्व कारण विश्वेशम अयम नर इति शक्ति समासा एक पक्ष है हेतु क्या है ऐसा करने में सर्वेश्वरता क्योंकि समस्ती का वह ईश्वर होने के नाते यह वित्पत्ति भी हो सकती है विश्वेशम अयम नर जिसे ऊपर में था अथवा दूसरा है विश्वे नरा नियम्य अस्य समस्त नर जीव नियम्य है जिसका ये बहुवीरवा ऐसे कहने में क्या हेतु है, तो है? सर्व प्रत्यक्ष दूसरे कि सभी उसके लिए प्रत्यक्ष है ऐसे हम लोगों के लिए जो यह है यही प्रत्यक्ष है लेकिन उस परमात्मा के लिए समस्त जीव प्रत्यक्ष है ये दूसरा पक्ष है तीसरा विश्व ही सर्व ही प्राण भी प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य नीयते समस्त प्राणियों के द्वारा प्रत्यगात रूपेण जिसका अनुभव किया जाता है वो आत्मा विश्वात्मा है विश्वानर है इसी उपल समास होगा या नए तेरे धारण कर दूंगा नीदा से करूंगा धातु ही बदल दिया इस तीसरे वित्पत्ति में नेत्र डरन से कर देंगे तो नरा बनेगा त्रिशु भी तीसरे पक्षेश तीसरे तीनों पक्ष में क्या करूंगा प्रज्ञा से स्वार्थ कण करके वैश्वान बनेंगे नरे संज्ञान तो तीनों ही पक्षों में लगेगा ये तीन विपत्ति हो सकती है चाहे षठी तत्व समास कर लीजिए चाहे बहुरी समास कीजिए अथवा उपपद समास कीजिए आपकी मर्जी अर्थ तीनों में एक ही है समष्टि पक्ष को लेकर के कहा जा रहा है वृष्टि में ये विश्वनाम से है और समष्टि में वैश्वानर नाम से सकल विश्वम का वो प्रत्यक्ष करने वाला सकल ईश्वरों का वो ये अधिष्ठाता ईश्वर है नियमन करने वाला है यह सकल जीव जिसको अपने प्रत्येगात्म रूप में अनुभव करते वो इस प्रकार से समष्टि तरफ इन तीनों व्युत्पत्तियों को घटाना होगा एक पूर्वक उत्तर पादादि गमस्य प्राथम्यमस्य और दूसरी बात ये प्रथम पाद को क्यों कह रहे हो किसी अन्य को प्रथम तो क्यों नहीं रखा इसकी प्रथमत्व की प्राथम्यता का कारण क्या है हेतु दे रहे कारण यह है इसके अनंतर ही इसके पूर्व में रहते हुए उत्तर काल में स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव में आ सकता है बिना जागृत की अपेक्षा का स्वप्न सुषुप्त व्यवहार नहीं होगा जिसने जागृत का अनुभव भी नहीं किया वह कभी स्वप्न या सुषुप्ति का अनुभव नहीं कर सकता और ऐसा कोई मिलेगा ही इसलिए इसकी प्रथमत्व है नहीं एक तक पूर्वकत्वा कहा उत्तर पादादिगम उत्तर जो पाद स्वप्न और सुषिप्ति पाद उनके अधिगम एक इस स्थूल भूग जागृत स्थान वाले का अनुभव पूर्वक ही होता है इसलिए प्राथम्यम इसी दृष्टिकोण से इसको प्राथम्यता दिया गया प्रथम पारित संज्ञा ग्रहण किया गया प्रति बात एक समझ में नहीं आई अयम आत्मा ब्रह्म करके आपने बीच में कह दिया था ना तो यदि यही जो यदि चेदावच्छेदन अनुभव हो रहा है या एक हृदयावचिन्न गुफा के अंदर अनुभव होता हुआ आत्मा ही ब्रह्म है इसलिए वो कैसे घटे गए दिवलोक जो है सिर है इसका सर तो दिवलोक तो है ही नहीं कैसे घटे जाएगा सप्तांग जो है ना इसमें घटाया नहीं सकेंगे आप जिस मंत्र को लेकर आपने द्यूलोक आदि का वर्णन किया तब इसी प्रश्न को उठा के बोल रहे हैं कदम यम आत्मा ब्रह्म प्रत्यगात्म से चतुष्पात्र प्रकृते द्यूलोगायना मूर्धाजंगत्व यदि अयम आत्मा ब्रह्म इसके आधार पर आप प्रत्येगात्मा को ही चतुष्पाद रूपेण वर्णन कर रहे हो प्रकृति यही है कि ये जो प्रत्यगात्मा है इसे भी चतुष्पाद रूपेण वर्णन करना चाह रहे हो और समष्टि में सारी बार घटाए जा रहे हैं बेमतलब कहा कहा तुम जोड़ दे रहे हो प्रकृत है व्यष्टि और व्याख्या करो समष्टि कैसे किस प्रकार हो सकता है प्रश्न पूछ रहे इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि के द्वारा प्रत्येक आत्मा को ही आपने चतुष्पद दृष्टिकोण से जो व्याख्यान करने की इच्छा से प्रकृत किया है ऐसे में मालूम हो रहा है यदि ऐसा ही है तो दूलोकारी जो मूर्धाद्यंग ने जो कथन किया इति कथन अंगत्तम ये मूर्धादि का रूपेण जो द्युलोकारियों में अंगत्व का कथन है ये कैसे घटेगा विचिन्नश दोष कहते शंका नहीं करना या ये दोष आरोप नहीं हो सकता क्यों सर्वस्व प्रपंच साधि देविक आत्मा चष्पात विवक्षित था क्योंकि जो है ये जो प्रत्येक आत्मा को भी हम जब प्रकरण में प्रकृत करके मान लेंगे तो भी वास्तव में क्या है संपूर्ण प्रपंच वो भी कैसा साधे दैविक केवल आदि भौतिक नहीं अपंचीकृत पंच में आभूत और पंचीकृत पंच में आभूत इतनी की बात नहीं हो रहा है किंतु इनके दृष्टाग्र लोग सूर्य आदि है जो उनको भी ले लेना संपूर्ण प्रपंच आदि देव आदि के सहित को ही अनिल आत्मना इस प्रत्येगात्मा के रूप में ही चतुष्पात सुरक्षितपात चतुष्पात निवक्षा हमने किया है क्योंकि यह अभिधान अभिधेय मुख्य लक्ष्य पहले बता चुके हैं अभिधान और अभिधेय दोनों अत्यंत अभिन्न होने से ओम और ब्रह्म अभिन्न होने से जो ब्रह्म शब्द वाच्य बोता जो भी आप कहेंगे यदि भी ब्रह्म क्या अभिधेय खुद है उसके बावजूद तत्शब्द वाच्य रूप में ग्रहण करोगे तो वृष्टि समष्टि दोनों ही आएगा यदि अयम कहा करेगी वेष्टि को लाया गया अयम आत्मा ब्रह्म का कर भले शुरू में नहीं कहीं भी वेष्टि का नाम सर्व को ओंकार के साथ अवेद किया और ब्रह्म को ओंकार के साथ अवेद किया अतएव ब्रह्म ये सब क्या है अभिन्न हो गए तद भिन्न से तद भिन्न से तद भिन्न भिन्नतम इस न्याय के आधार पर जो है वो एक हो जाते हैं ये सब क्या अतः अभिधान और अभिधेय दोनों अभिन्न इन बीच में परोक्षता की भ्रांति को निवारण करने के लिए केवल हमने अयम को लाया था यही था ना कोई कहने लगता है ठीक है सर्वम यम ब्रह्म का सर्वम ये तद ब्रह्म आपने कहा तो इसे उपरोक्ष तब शंका को दूर करने के लिए आपने अपरोक्ष सिद्ध करने के लिए अयम लाया था उससे लक्षित किया गया था ये जो अयम आत्मा है वो भी क्या है वो ब्रह्म ही है इसलिए जो वेष्टि है वही समष्टि है और जो वेष्टि सौचुभ्यात्म रूप जो प्रकृत सर्वम ही ब्रह्म अरे वेष्टि ब्रह्म से अलग तो है नहीं इसलिए जो कुछ भी हम ब्रह्म के लिए करें वृष्टि के लिए समझना है और जो वृष्टि के लिए कहूंगा ब्रह्म के लिए है इनके दोनों ही अभिन्न इसी को आगे और स्पष्ट करेगा मात्रा पादा पादा मात्रा इसके द्वारा इसलिए इनका कहना है कि उस आत्मा को ही चुष्पाद रूप है ना हमारे द्वारा विवक्षित है संपूर्ण प्रपंच के विषम हो जाने पर क्योंकि क्या होता है एवं सदी ऐसे मानने पर लाभ क्या होएगा सर्व प्रपंच विषम अद्वैत सिद्धि ही सर्व प्रपंच का विषम होने पर ही जीव ब्रह्म ऐक्यता की सिद्धि हो सकती नहीं तो नहीं हो सकेगा सर्वभूत आत्मा एको दृष्ट सर्वभूत आत्मा सकल भूतों में स्थित जो आत्मा है वह एक है ऐसा ही सभी को अनुभव में आता है अज्ञान वशात पहले हम भले ही अनुभव करते हैं सब भिन्न भिन्न है सर्वभूत आत्मा एको दृष्टा इत्या श्रुतियों के अर्थ को मार कर रहे ना सर्वभूतानि च आत्मनी ये श्रुतिया है सर्वभूतानि च आत्मनी से में आएगा सकल भूतों को आता में और आता में सर्वभूतों को देखो चार अलग अलग स्तर थे हम सब अलग अलग हैं ये जो पहला हुआ सब अलग रहो तो सभी भगवान ही है सभी में भगवान अलग है सभी भगवान ही अलग चीज है ना बहुत ऊंची चीज है सभी भगवान मानना और सभी में भगवान मान रहा हो तो वह सभी जो वस्तु है वो भगवान का अधिष्ठान है भगवान नहीं है अलग स्तर ही है सर्वस्व आत्मा ये तो आरंभिक सीढ़ी हो गया सभी में आत्मा है आत्मनी जो सर्व में सर्वोत्कृष्ट बात वो भी और आगे की बात है सर्वस्मिन आत्मा पहले होता है फिर सर्वम आत्मा बाद में होता है फिर आत्मनी सर्वम आत्मा में ही ये सब कुछ है उसके अंदर आत्मा एव सत न सर्व आत्मा ही है सर्व भी नहीं इसीलिए है ना ये तो एकत्व अपश्यता कहा जाता स्पष्ट यहाँ पर कहा है तो सारे मंत्रों के ईश्वर से बीस रुपया रखा हुआ है वहां पर जो वेदांत की विभिन्न स्तर है पहले हमें यही अनुभव करना पड़ेगा कि सभी में भगवान है यह कहना पड़ेगा सब भगवान में ही है क्यों क्योंकि सभी भगवान ही है में कहना है सब है ही नहीं जो है तो भगवान है तीसरे इनका कहना है सर्वभूतस्थ आत्मा एको एक और सर्वभूतानि ये तो सर्वाणी भूतानि श्रुत्यर्था उपसनुदश्च एवं सियाद ना वही विषय मंत्र लाया कि इससे क्या हुआ ये तो सर्वाणी भूतानि जो श्रुति का तात्पर्य अर्थ था उसी को एक प्रकार से यहाँ पर भी उपसंहार करके कथन किया गया है संग्रह कर लो उपसंहार मैंने अन्यत्र कथित वस्तु को अन्यत्र संग्रहण करना अन्यता ही स्वदेह परिच्छिन्न प्रत्येगात्मा सांख्या समस्या होगा फिर आनंद तो पुरुष खड़ा हो जाएंगे सांख्य मत आ जाएंगे सांख्यादियों के समान स्व स्व देहों से जो परिच्छिन्न अनंत प्रत्येगात्मा हो जाएगा सांख्यादिवीर इव दृष्ट सांख्यादि के समान अनंत पुरुष के दर्शन के समान हो जाएगा तथा चती अद्वैत मिल श्रुति कृत विशेष न फिर तो ये जो श्रुति ने अभिन्न सिद्ध किया अद्वैत सिद्ध किया है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा अद्वैतम यदि श्रुति कृतो विशेषो न अद्वैतम मैंने अभिन्नम करके जो यह श्रुति ने ये विशेष कथन जो किया वह सिद्ध नहीं हो सकेगा सांख्य दर्शनी न विशेषा क्यों पहले ये भी सांख्य दर्शन के बराबर है वेदांत और सांख्य फर्क क्या रह जाएगा विशेष नहीं रह गया का मतलब सांख्य आदियों में इसका भी विलय हो जाएगा अंतर्भू अंतर्भाव हो जाएगा एक स्वतंत्र जो प्रथा का उन सब से विलक्षण उन सब से विशेष दर्शन साबित नहीं हो सकता ये भी उसी कोटि में चला जाएगा श्रुति विरुद्ध हो जाएगा कहने का मतलब श्रुति विरुद्ध हो जाएगा वेदांत कर ईश्वरे सर्वोपनिषदाम सर्वात्मक प्रतिपादकम और क्या है लेकिन सकल उपनिषदों के द्वारा सकल आत्माओं की एकत्व तो प्रतिपादन करना ही इष्ट है जीव ब्रह्म एकत्व का प्रतिपादन करना ही इष्ट अरे आपको इसे पता चला तो इसलिए ये वेद की वेद तो बेकार हो जाएगी ये वेद किस बात का है यही जो जगत में हमको अनुभव में आ रहा है यही को वो भी कथन कर दे इसी बात को कथन कर दे अनुवाद कर दे मेरे तो श्रुति वेद नहीं है वेद वेद की वेद की वेदत्व ही खत्म हो गई वेद की वेदता इसी में है ये जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमिति आदि प्रमाणों द्वारा ज्ञात हो जो है उन तथ्यों को खत्म कुमार भट्ट ने तो इस बात को स्पष्ट ही कहा है ना प्रत्यक्ष अनुमित्याच उपायो न बुद्यते एनम विदंधि न तस्माद वेद यही वेद की वेदत्व है कि वह प्रत्यक्ष अनुमिति आदि प्रमाणों के जिस चीज को आप नहीं जान पाते उस चीज को बोध करा दे अब इस बात को जो दृढ़ता वर्ग नहीं पकड़ते हैं फिर वो जगत के आधार पर घटाने की कोशिश करेंगे इसे लोगों का स्वभाव क्या है मैं जो कर रहा हूं वो सही है इस बात के श्रुतियों को लगाने की चेष्टा करते हैं अपने अपने तर्क में क्या कर रहे हैं सभी के पास है श्रुतियां लेकिन वास्तविक श्रुति का लक्ष्य को श्रुति के रूप में समझने की चेष्टा करना अलग है अब मैं जो प्रतिपादन करना चाह रहा हूँ उसमें श्रुति को समर्थन रूप में न लाना एक अलग बात है श्रुति का अपना लक्ष्य अर्थ क्या है उसको समझे श्रुति अर्थ को श्रुति के दृष्टिकोण से कहना एक अलग बात है दोनों में बहुत फर्क है आसुरी वेदांत क्या होता है पहला पक्ष वाला है आसुरी वेदांत जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ ये सही है इसमें क्या है ये श्रुति प्रमाण ऐसे स्व कार्यों की वृद्धि श्रुतियों को प्रमाणित करने की प्रमाण में प्रयोग करना यह आसुरी वेदांत और श्रुति के अनुसार सब चीज को दिखाने की चेष्टा करना श्रुति दृष्टिया कथन करना वो दैवी वेदांत वो समझ करके लिखने वाले तो ये शंकराचार्य सिवा और कोई नहीं हुआ इसमें क्या प्रमाण है क्योंकि वेद की वेदत्व की इसी में रक्षा है कि जो हम देख रहे हैं अनेक जीव और हम जो अनुभव कर रहे जीव और ईश्वर भेद और जो अनुभव कर रहे जीव जगत की ईश्वर की सत्यता इससे परे उठकर कुछ कथन करे वेद तभी तो मानूंगा और वेद की वेद तो रहेगी जो मेरे चक्षुर आदि इंद्रियादियों उनके अनुभव में आ रहा है जीव जगत ईश्वर वेद के और उनकी सत्यता वगैरह इसी का यदि वेद प्रतिपादन कर देता है फिर वेद की वेद तो ही नष्ट हो जाएगा इसलिए सुंदर दृष्टान्त एक बार शास्त्रार्थ जब रथ हो रहा था बनारस में दक्षिण भारत से पंडित आया द्वैतवादी और सबको परास्त कर जितने पंडित थे बनारस के सब भाग गए अब बेचारे बड़ा परेशान हो पंडित लोग क्या करे वेदांत तो गड़बड़ा गया वेदांत की स्थापना नहीं होगी तो फिर क्या होगा अद्वैत स्थापना नहीं हो पा रहा द्वैत स्थापना हो कर दिया इसने एक महात्मा जी थे फिर अंत में उनके पास अब पंडित लोग गए महाराज आपकी कृपा करो आप आप भी विद्वान हैं लेकिन कहीं भी शास्त्रार्थ नहीं करते कुछ नहीं करते लेकिन अब इज्जत का सवाल बना हुआ है तो आप चलिए मैंने ठीक है भाई हम चलते हैं तारीख तय हुई पंडित जी से भाई आपको जो टाइम मिले हम तो खाली सन्यासी महात्मा हमारा क्या काम धंधा है तुम तो गृहस्थ हो तो आप टाइम दो उन्होंने अपना टाइम दे दिया और फिक्स हो गया वहां पहुंचा है अमुक तिथि को दोपहर साढ़े तीन बजे से शुरू हो गए शास्त्रा उन्हें अपने जो आश्रम में सफाई करता था ना बंगी तो बंगी को बुलाया महात्मा जी और बुला कर समझाए जैसे मैं कहूंगा तुमको वैसे करना है मैंने हाँ हमारा जैसे आप कहेंगे वैसे आप तो भगवान है हमारे लिए तो ठीक है तो कहो तो फिर उन्होंने अमुक तिथि को आ जाना दोपहर में तुम दो बजे बुला लिया दो बजे जब बुलाए उसको बढ़िया वस्त्र रखे पंडित का वेशभूषा होता है ना बढ़िया बढ़िया वेश भूषा सब उसको दिया दुपट्टा अपना तरह के मंत्राम कर दिया उसको ड्रेस अप कर दिया पंडित देखने से लग रहा था अद्भुत दिव्य पंडित अब उसको लेकर के चलो तुम साथ और तुमको वह ऊपर गति में बिठाएंगे बोलना कुछ नहीं चुप रहना जब बोलने की बारी आएगी ना तो मैं आ जाऊं तब तो तुम चुपचाप बैठे रहो वहां बैठे रहा तो लेकिन एक बात उन्होंने कह दिया शुरू में जो कहेंगे ना तुम पूछो तो इतना ही बोलना पहले आप बोलिए इतना बोल और कुछ नहीं तीन तो रट लिया संस्कृत के दो शब्द उसने अग्रवाज मध्य सभापति ने कहा कि भाई प्रश्न कौन कर रहे सर पहले उनसे रहा है वो स्थापना कर रहे थे खंडन मेरी खंडन वो करना चाह रहे ना पहले वो कथन तो करें तो उन्होंने जय पंडित एक घंटा अपना जो है तर्क का जाल लंबा चौड़ा बिछा दिया बिछाने के बाद मध्यस्थ सभापति ने कहा उसको डुप्लीकेट पंडित हो भाई आप जवाब दीजिए तो क्या जवाब देता तो देख रहा है नीचे महात्मा जी बैठे हुए हैं सामने में तो कहते हैं अब क्या करे तो उन्होंने कहा चुप रहो जवाब दिया नहीं एक बार दो बार तीसरे बार प्राप्त होना था ना एक बार मौका दिया सोचने की दो मिनट के बाद मध्यस्थ ने कहा महाराज कोई जवाब नहीं तीसरे बार जैसे घंटी बजी तुरंत महात्मा जी उठे यहाँ उठ करके धैर्य गए ऊपर और उसको साष्टांग प्रणाम कर और वो भंगी तो झाड़ा होते क्या हो रहा है अरे गुरुदेव मेरे चरण को प्रणाम करो भागो वो भागा बच्चा करके महाराज नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आप मेरे हाथ मत करो मत करो मत करो करते करते भागा तो उसके पीछे पीछे भाग रहे नहीं नहीं नहीं नहीं अंत में भाग के स्टेज से उतर के चला अच्छा गया कहा गया भाग अब महाराज जी अपना बैठ गए इतना बोला किन दृष्टन तोया अरे तुमने क्या देखा स्टेज में जो बबाल हुई अभी ड्रामा कहता है स्वामीदास भावो स्वामीदास भावो दृष्टम तरी द्वैतम दृष्टम गया तुमने द्वैत देखा तदेव चे उच्च थे श्रुति श्रुतिरव नास्ती अथवा अद्वैतम मेव सत्यम गच्छो क्या कान पकड़ लिया बापरा ये तो बड़ा लक्षण तर्क है आज इसका कोई जवाब नहीं है यदि भंगी जो जानता द्वैत वही द्वैत को श्रुति भी कह देगा श्रुति किस बात की ये तुम हम बढ़ क्यों रही श्रुतियों को अरे हम और तो हमसे तुमसे तो अच्छा भंगी है अरे ब्रह्म ज्ञानी है फिर तो तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रुति वो चीज है जो हमारे प्रत्यक्ष अनुमान आदि की और ज्ञात वस्तु का प्रदान कर वो तो है नहीं इसी श्रुति हमेशा श्रुति का वास्तविक लक्ष्य अद्वैत ही होना चाहिए क्योंकि हालिक से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत द्वैत प्रसिद्ध है ना पांच सौ पांच जो हाली के किसान है गवार है बंगी टंगी दुंगी इन लोगों से लेकर ये ब्रह्मा जी पर्यंत तक सभी में क्या है भय द्वैत उसी का प्रतिपादन वेदांत भी कहने लग जाए वेदांत व्यक्त इसे मानना पड़ेगा सकल उपनिषदों का लक्षित अर्थ प्रतिपादन करने के लिए इच्छित वस्तु अद्वैत ही होगा द्वैत हो नहीं सकता और अद्वैत में भी कौन सा अद्वैत होगा इसे लफड़ा हो गया अनेक आचरण जो है विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत है ना द्वैताद्वैत अनेकों प्रकार के चीज घुसेड़ दी है अद्वैत को भी अनेक प्रकार बना दिए अद्वैत है वो अनेक प्रकार हो कैसे समझ बनी आपका वो सब सविशेष अद्वैत है निर्विशेष अद्वैत कोई नहीं वस्तु वास्तव में श्रुति के द्वारा अर्थ जो है वो निर्विशेष अद्वैत ही होगा क्योंकि किंचन में सविशेष हो गया है द्वैतम इव भवती में कोटि में आ जाए द्वैतम इव आप यदि उसमें अद्वैत विशिष्ट अद्वैत का दो विशिष्ट अविशिष्ट अरे जो कुछ भी विशेषण नहीं जोड़ रहा ना अद्वैत का अद्वैत में किंचित भी अविशेष लाओगे तो सविशेष अद्वैत हुआ वो निर्विशेष अद्वैत नहीं हुआ और सविशेष अद्वैत भी अनुभव सिद्ध आम आदमी से नहीं है लेकिन तुम्हारे से बुद्धिमान से जो प्रतिपादन कर रहा है